चले राम त्याग गाबन सो अतुलित बल नर के हरिदो बिरही इव प्रभु करत विषादा कहत कथा अनेक संवार लक्ष्मी मन देखो विपिन कय शोभा देखत कहि कर मन नहीं छो नारी सहित सब खग मृग वृंदा जानहु मोरे करत है निंदा श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं हे लक्ष्मण जरा वन की शोभा तो देखो इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं हम ही देखी मृग निकर पर मृगे है तुम कह भयना है करहु मृग जाये कञ्चन मृगखो आये सङ्गलाय करने ले मनहु मोहे सिखावनु शास्त्रसुचिन्तित पुनि पुन देखिय भूप सुसेवित बस नहीं लेखिय हमें देखकर जब डर के माने हिरणों के झुंड भागने लगते हैं तब हरिणिया हिरणिया उनसे कहती हैं तुमको भय नहीं है तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो अतः तुम आनंद करो ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं हाथी हथनियों को सांस लगा लेते हैं वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए राखिय नारे उर बाहे जुबते शास्त्र निपति बसना देखहुतात बसंत सुहावा प्रिया हे न मोहे भय उपजावा बिरह बिकल बलही नमोहि जान सिनिपट अकेल सहित विपिन मधुकर खग मदन किन्ह मेल देख गय भ्राता सहित तासुदूत सुनिबात डेरा किन्हु मनहु तब कटकु हटके मन जात और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते हेतात इस सुंदर वसंत को तो देखो प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है मुझे विरह से व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को सांस लेकर मुझ पर धावा बोल दिया परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ अकेला नहीं हूँ तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक कर डेरा डाल दिया है बिटप विशाल लताय रुझाने विविध बिता दिए जनुताने कदली बर धुजा पता देखिन मोह मन जाका विविध भाति फो ले तरुणा जनु बने बहुबा कहु कहु सुन्दर सुहाए जनु भट बिलग। बिलग हो विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों कूजत पीक मानहु गज माते ढेक महोख ऊट बिसराते मोर चकोर किरबर पारावत सबताजे, तितिर लावक पदचरजो बरी न जाये मनोज बो शिला दुंदु भी झरना सातक बंदे गुणगण बरना कोयले कूज रही हैं वही मानो मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं ढेक और महोक पक्षी मानो ऊट और खच्चर हैं मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं पपीहे भाट हैं जो गुण समूह विरदावली का वर्णन करते हैं मधुकर मुखर भेरी सहनाए त्रिविधया बयारे बसिया चतुरङ्गिणी से न सङ्गणे विचरत सबहे चुनौति देहे मन देखत कामयनी का कहीं धीर तीन कै जगली काम यही के एक परम बल नारी कहते उबर सुभट सोई भारी भौरों की गुंजार भेरी और सहनाई है शीतल बंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है इस प्रकार चतुरंगणी सेना सांस लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है हे लक्ष्मण कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है तातति नयति प्रबल खल काम मुनिवे ज्ञान धाम मन करहि निमिष मह लोभके लोभ के काम के केवल नारी क्रोध के परुष बचन बल मुनिबर कह विचारी हे तात काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं ये विज्ञान धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं लोभ को इच्छा और दम्भ का बल है लोभ को इच्छा और दम्भ का बल है काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं